www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए मेहनत करने वाले नौजवानों को और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं वाकयतन एक बेमिसाल इंतज़ाम उन्होंने किया है अल्लाह उनकी इस खिदमत को सेवा को कबूल फरमाए कौमी एकता के ताल्लुक से बहुत ही शॉर्ट में मैं दो चार बात अर्ज करूंगा हमारे एक धर्म गुरु थे दिल्ली में रहते थे बहुत बड़े अवलिया अल्लाह में से सूफी संत में से उनके पास एक मर्तबा उनका एक शिष्य यानी शागिर गिफ्ट लेकर आया हदिया लेकर के आया वो लाने वाला शिष्य शागिर्द उनका कातर लेकर के आया है तो सूफी संत अल्लाह के वली ने जवाब में कहा मेरे प्यारे तुम मेरे लिए कातर लेकर के आए अगर तुम मेरे लिए सुई लाते तो बहुत अच्छा होता इसलिए कि कातर काटने का काम करती है सुई जोड़ने का काम करती है और इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर सुई की तरह जोड़ने वालों की जरूरत है कातर की तरह काटने वालों की जरूरत नहीं है दोस्तों इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से हमने आजाद कराया आजादी कौमी एकता की ताकत से हमने हासिल की है अगर मुल्क की आजादी को बाकी रखना है तो हमें आपस में कौमी एकता के साथ बाकी रहना पड़ेगा तो मुल्क की आजादी भी बाकी रहेगी और मुल्क प्रगति करता रहता रहेगा ओ शहीद उल्ला खान को याद करो जब उनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया है तो उल्ला खान ने फांसी की रस्सी को चूमते हुए पैगाम दिया था ए भारतवासियों हमने देश के लिए जान की कुर्बानी दी है लेकिन तुम देश को बचाने के लिए आपस में हिंदू मुस्लिम एक होकर के रहना कभी आपस के अंदर लड़ाई झगड़े मत करना मैं आपसे कहूं उन्नीस के अंदर जब अहमदाबाद के अंदर जबरदस्त कौमी फसादात हुए पांच दिन कर्फ्यू रहा सुनने जैसा किस्सा है इसी 31 दिसंबर 2017 के गुजरात मित्र में यह छपा है उन्नीस के अंदर जब पांच दिन कर्फ्यू रहा अहमदाबाद में तो एक जगह के ऊपर हिंदुओं की बहुमती वाले महल्ले में एक गरीब मुसलमान फैमिली रहती है उस मुसलमान फैमिली के पास खाना कम हो गया तो पड़ोस में रहने वाले हिंदू भाई ने कहा अपने घर के सब लोगों को कहा हम दो दो लुक में कम खाएंगे लेकिन हमारे पड़ोसी मुसलमान को हम खाना खिलाएंगे उनको भूखा मरने नहीं देंगे इस तरह कुछ दिन गुजरे पड़ोस में रहने वाले हिंदू मुसलमान दोनों एक दूसरे के साथ ही इन्होंने खिलाया थोड़े दिन के अंदर वो हिंदू वड़ील बीमार हो गए तो वो मुसलमान ने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली अपनी मजूरी छोड़ी और जितने दिन वो पड़ोसी हॉस्पिटल में रहे उस पूरे मुसलमान घराने ने उस हिंदू भाई की सेवा की और हॉस्पिटल में खड़े होकर उनकी खिदमत करते रहे बताओ ये हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जब तक हमारे मुल्क में सलामत रहेगी हमारे मुल्क को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती आप अखबार में पढ़ो अभी अभी एक जगह के ऊपर ये हुआ है हिंदुओं के एरिए में पानी की तकलीफ थी तो एक मुसलमान ने 25 लाख रुपए का डोनेशन देकर के हिंदुओं के महल्ले के अंदर पानी चालू करवाया अखबार के अंदर यह किस्सा छपा हुआ है एक स्मशान भूमि का प्रॉब्लम आया तो एक मुसलमान कवि ने शायर ने डोनेशन देकर के हिंदुओं की स्मशान भूमि बनवाई ये है कौमी एकता का एक सबक हमारे मुल्क के अंदर मैं आपसे कहूंगा हम आज देश के लोगों को एक ही पैगाम देना चाहते हैं हमारा मुल्क हमारा देश एक गुलदस्ता है फूलदानी है एक फूलदानी होती है उसमें अलग अलग कलर के फूल होते हैं अलग अलग किस्म के फूल होते हैं अगर तमाम फूल खिले हुए हो अच्छे हो तो वो गुलदस्ता और फूलदानी अच्छी नजर आएगी और अगर एक फूल भी करमाया हुआ होगा तो वो गुलदस्ता और फूलदानी की खूबसूरती खत्म हो जाएगी हमारे देश में रहने वाले जितने मजहब के लोग हैं जितने धर्म के लोग हैं वो भारत की खूबसूरत फूलदानी के फूल की तरह है और तमाम धर्म उसमें फूल की तरह है अगर हर मजहब के मानने वालों को प्रगति करने का चांस दिया गया उनको खिलने दिया गया तो दुनिया के अंदर हमारे भारत देश का गुलदस्ता फूलदानी बहुत अच्छी नजर आएगी और अगर किसी भी धर्म के इंसान को अगर तरक्की नहीं करने दी प्रगति नहीं होने दी उसको मुरझाने दिया उसको कर्मा दिया गया तो दुनिया के अंदर भारत देश की छवि खराब हो जाएगी और मैं हमारे आज के प्रोग्राम में आए हुए देशवासी भाइयों को कहूंगा मुसलमान हज यात्रा में जाते हैं हज का प्रोग्राम टीवी के ऊपर लाइव आता है अगर आपने नहीं देखा हो तो अब जब हज आएगी मैं आपको हज का प्रोग्राम लाइव देखने के लिए इनवाइट करता हूं आमंत्रण देता हूं आप हज का प्रोग्राम देखो भारत देश का मुसलमान जब मक्का मदीना यात्रा में जाता है और पवित्र भूमि पर अरफात में मीना में मुजदलिफा में होता है तो वहां भी भारत देश के तिरंगे झंडे को लेकर के वहां होता है ये मुसलमान देश के ऐसे वफादार हैं कि मक्का मदीना जाकर के भी अपने मुल्क को भूलते नहीं है ये हमको हमारे दीन ने तालीम दी है कौमी एकता जिंदाबाद कौमी एकता और आखिर में एक बात कहूंगा आज सबका खा के अपना विकास करने वाले बहुत है सबका खा के अपना विकास करने वाले बहुत है लेकिन अपना खिला के दूसरों का विकास करने वालों की मुल्क को जरूरत है और ये पवित्र सर्व जमीन हमारे भारत देश की ये अलिया की सूफी संतों की साधु मुनियों की सरजमीन है इसमें मोहब्बत है प्रेम है इस प्रेम और मोहब्बत के सबक को पाठ को हमें बाकी रखना है इस फकीर की जुबान से निकले हुए शब्द को अपने दिल की दुनिया में लिख लेना अगर हमारे भारत देश में ये कौमी एकता रही देश की प्रगति के लिए मेहनत की और पंद्रह साल ऐसे आइंदा भविष्य में आ जावे कि जिसमें देश में एक भी हिंदू मुस्लिम कौमी फसाद न होवे तो सोलहवें साल में भारत देश दुनिया की महासत्ता होगी और भारत को महासत्ता बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जिनको हमसे डर है कि इस देश में अगर कौमी एकता हुई भारत महासत्ता बन जाएगा वही लोग आज हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं हमें अपने दुश्मन को पहचानना है अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए मेहनत करने वालों की मेहनत को कबूल फरमाए वाखिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमी